इस संसार से हट करके हम ईश्वर की ओर चल सके वो ईश्वर को नित्य देखता है क्या समझ में आया दोहराओ संसार से हट करके जब ईश्वर की ओर जाता है तो ईश्वर वो ईश्वर को नित्य देखता है और संसार को अनित्य देखता है तो एक व्यक्ति का स्वभाव है वो नित्य में रुचि रखता है अनित्य में रुचि नहीं रखता जो वो अभी जाने वाला है गया बस उसमें उसकी रुचि नहीं है और जो कहते हैं तो सदा से हमारे साथ सदा रहेगा कभी हटने वाला नहीं ईश्वर का और हमारा वियोग कभी नहीं होता दोहरा लो क्या समझ में आया ईश्वर का और हमारा कभी वियोग नहीं हमारा पृथकत्व है अलग अलग न हम ईश्वर से कभी होते हैं न ईश्वर हमसे होता एक बात दूसरी बात ईश्वर में कभी दोष अपवित्रता अज्ञान अधर्म कलना छिड़ना कभी नहीं होता नित्य शुद्ध है और संसार है शुद्ध इसलिए संसार से हटता है व्यक्ति और ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाता है ये दूसरी बात ये आपको प्रयोग सुनाए जा रहे ये उपासना में काम आते हैं जो के तो जब आप उपासना में बैठेंगे ध्यान करेंगे सिंध्या करेंगे तो ये प्रयोग जो के त्यों प्रयोग में आएंगे आपके सीधा संबंध है हमारी रुचि होती है संसार की ओर जो संसार को नाशवान ने देखा रुचि नहीं ईश्वर को नित्य देखा ईश्वर में रुचि हो गई साधक जी आया समझ में दूसरी बात संसार में रुचि है आकर्षण है जब संसार को अपवित्र देखा रुचि हट गई ईश्वर को नित्य पवित्र देखा रुचि बढ़ गई दूसरा तीसरी बात संसार में सुख क्षणिक और चार दुखों से मिश्रित देखा रुचि हट गई ईश्वर में नित्य सुख सुख रही सुख देखा तो ईश्वर में रुचि हो गई चौथी बात संसार को जड़ देखा शरीरों को सोना चांदी को सब जड़ है चेतन नहीं ईश्वर को चेतन देखा तो रुचि बढ़ गई चारों के चारों कारण जो का त्यों अपना काम करते यो का त्यों मन को कैसे रोकें वृत्तियों को कैसे रोकें आप इन चारों बातों को दिमाग में रख लीजिए और संध्या में बैठ जाइए मन रुक जाएगा या नहीं आया समझ में तो बोलो साधक जी क्यों तुम जारी लोग आ गया यहाँ पर पहुँच जाइए जिस समय आप उपासना में बैठते हैं उस समय अच्छे प्रकार से पहले सिद्ध कर लीजिए संसार नाशवान है और उस समय भी यही दिमाग बनाइए कि हाँ ये संसार नाशवान है तो इसमें जो आकर्षण है वो एकदम कम हो जाएगा ईश्वर को नित्य देखिए तो ईश्वर की ओर आकर्षण बढ़ जाएगा वो नित्य है संसार को देखते हैं संसार बड़ा पवित्र अच्छा दिखता है संसार उदय प्रोत मलमूत्र मतलब से भरा पड़ा सत्व हृदय तम तीनों गुण ईश्वर ईश्वर नित्य पवित्र शुद्ध है तो ईश्वर की ओर आपकी रुचि हो जाएगी सुख के लिए व्यक्ति दौड़ लगाता है संसार में क्षणिक सुख दुख मिश्रित सुख है ईश्वर में नित्य सुख है दुख रहित है वो उसको प्राप्त करना चाहेगा सांसारिक सुख को नहीं प्राप्त करना चाहेगा चेतन और जड़ जितनी व्यक्ति की चेतन में रुचि होती है उतनी जड़ में नहीं होती बुद्धिमान की बात कर रहे हैं बेसमझ की बात नहीं कर रहे बुद्धिमान व्यक्ति जो है समझदार व्यक्ति है वो चेतन में जिसे रुचि रखेगा जड़ में नहीं रखेगा जो बेसमझ है कम जानते हैं जिनका दिमाग ठीक नहीं वो तो जड़ों को बहुत अच्छा मानते हैं आजकल क्या देखेंगे आप सोना चांदी से जितना व्यक्ति प्यार करता है उतना भाई बहन चेतन पदार्थों से नहीं करता या नहीं है ऐसा आप बोलो आप रोज उन्हीं में रहते हो है या नहीं जितनी मूर्खता बढ़ती जाती है उतना व्यक्ति जड़ पदार्थों को अच्छा मानता और चेतनों को ठुकराता जाता है जितना वो बुद्धिमान बनता जाता है चेतन उसे प्यार करता है और जड़ पदार्थों को ठुकरा देता है कहता सोना चांदी क्या है भाई बहन के सामने माता पिता के सामने कुछ नहीं है इनको पहला स्थान मिलेगा धन संपत्ति कुछ नहीं है बुद्धिमान होगा तो ऐसी बात करेंगे वैज्ञानिकों का दिमाग खराब हो गया और दूसरे भोगवादी नास्तिक केवल धन केवल भोग इनका दिमाग खराब हो गया तो इनका दिमाग खराब हो गया तो विश्व का दिमाग खराब हो गया ये ये मानते हैं संसार के अंदर भौतिक विज्ञान सब कुछ है एक फिर उसे धन संपत्ति इकट्ठी करो वो सब कुछ है दो फिर भोग दिन रात भोगो इंद्रिय के भोगों को उल्टा सीधा ये सब कुछ है चौथी बात गद्दी राज गद्दी और अधिकार सब कुछ है ये बातें इनके दिमाग में बैठी है इसलिए पूरा संसार दुख सागर में डूब गया उल्टी मान्यताएं खड़ी हो हम ये नहीं मानते भौतिक विज्ञान नहीं होना चाहिए ऋषि ये मानते हैं भौतिक विज्ञान आवश्यक है अपने काम की चीज धन संपत्ति आवश्यक है वो काम की चीज अपना देश का राज्य हो न्यायपूर्वक वो काम की चीज परंतु ये धन बड़ा है संपत्ति बड़ी है भोग बड़े हैं ईश्वर धर्म भाई बहन छोटे हैं इसको गलत मान अनर्थकारी यही है तो ध्यान दें उपासना काल में जब इन चारों बातों का प्रयोग होता है तो ये हो नहीं सकता कि व्यक्ति की समाधि नहीं लगे ये नहीं हो सकता यद्यपि विषय गंभीर है चारों के चारों बड़े गंभीर है पर जिसका अभ्यास हो गया उसको संसार देखना आ गया कि नाशवान है और आकार प्रकार जितने हैं वो सारे समाप्त कर देता है बहुत स्तर पर और प्रलय जैसी अवस्था बना लेता है प्रलय में जैसा होता है ऐसा बना लेता है प्रलय जैसी अवस्था बनाते ही कुछ दिखाई नहीं देता तो मन कहां जाएगा कोई जाने की जगह नहीं एक एक बात को वो लेता जाता है और चारों बातों को एक एक के साथ तुलना करता जाता है तो स्वभाव से जहां अच्छाई देखता है व्यक्ति गुणों को देखता है व्यक्ति वहां उसकी रुचि होती है जहां दोषों को देखता है वहां रुचि होती है ये स्वाभाविक गुण है अच्छा आजकल व्यक्ति संध्या में समय क्यों नहीं लगाता उपासना में समय क्यों नहीं लगाता सत्संग में समय क्यों नहीं लगाता वो ये देखता है संसार के पदार्थ सोना चांदी खाने पीने में तो सुख है पर ईश्वर में सुख नहीं है इसकी रुचि नहीं है आपसे मैं पूछूं आगे बैठे आप तो परिचित हैं और तो थोड़ी से कम आते जाते हैं क्या आप दोनों समय संध्या कर लेते हो या नहीं एक समय क्यों करते हो रोटी कितने समय खाते हो अब देखो अंतर पड़ गया रोटी में अधिक सुख है और उपासना में कम है ये पता चल गया क्यों माता जी ये रोटी दो बार खाते हैं हो सकता तीन बार खाते हो एक बार नाश्ता दो बार रोटी तीन बार और संध्या एक समय वो ये स्वभाव से सिद्ध हुआ कि रोटी खाना जो है अधिक सुखप्रद है और संध्या करना कम ये मान्यता बना ली और यदि आपको ये पता चल जाता रोटी खाना कम सुखप्रद है उपासना करना अधिक सुखदायी है तो आप रोटी तो छोड़ सकते थे पर संध्या को नहीं छोड़ सकते आज विश्व में भयंकर भूल ये हुई और भौतिक वैज्ञानिकों ने कर डाली कि संसार में सुख है खाने पीने में पर ईश्वर नाम की कोई चीज है और उसमें भी सुख होता होगा ये नहीं मानती भौतिक वैज्ञानिक नहीं मानते सबसे बुरी हानि यहां हुई है यदि भौतिक वैज्ञानिक ये मानते जैसे खाने पीने में सुख है ईश्वर में नित्य सुख है स्थाई सुख है दुख रहित है तो ईश्वर की खोज करते लोग वैज्ञानिक लाखों रुपया करोड़ों लगाते उसके लिए ईश्वर की खोज करो अब ईश्वर है ही कुछ नहीं कल्पना है उसमें सुख भी है तो वह क्यों अरबों रुपया खर्च करेंगे इसे सारे के सारे लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं आत्मा परमात्मा का विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता ये मूर्खता हो गई बिल्कुल उल्टा और ये याद रख लिया जाए लौकिक सुख और सुख साधनों की प्राप्ति करने से व्यक्ति कभी दुख रहित नहीं होता संतुष्ट नहीं होता जितने भी परीक्षण हुए आज तक करोड़ों वर्षों ऋषियों ने यह बतलाया किसी व्यक्ति को इस भूमि का सारा धन संपत्ति सब कुछ दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि इसको खाओ पियो और अपनी कामना तृष्णा को पूरी कर लो तो एक व्यक्ति की भी तृष्णा पूरी पूरे भूगोल के धन से नहीं हो सकती अब छह अरब से ऊपर है हम हमारी कैसे पूरी हो जाएगी गदर रहेगा लड़ाइया मार काट लगातार वो ये मानते हैं कि इसे तृप्ति होगी और तृप्ति होने वाली है नहीं है ही नहीं तो कितनी दौड़ लगाओ तो होगी खरगोश के सिर पर सिंह ढूंढो तो कभी थे नहीं और मिलेंगे नहीं <laughs> ढूंढते रहो तो ब्रह्मचारियों को तो हम रोज पढ़ाते हैं ये पाठ आप आज आए हैं आप भी थोड़ा सा सुन लो और विचार कर लो ध्यान दो ये शरीर मनुष्य शरीर है इसके ऊपर ध्यान दो ये मैं और आप नहीं बना सकते इसको सोचो कोई व्यक्ति वैज्ञानिक आज तक नहीं बना पाया नहीं बना पाएगा इसकी रचना इतनी अद्भुत है और ये किसने बनाया ईश्वर ने बनाया क्यों बनाया ईश्वर ने इसलिए बनाया कि संसार की चीजों का प्रयोग करते हुए समाधि के माध्यम से मुझे प्राप्त करें और नित्य आनंद प्राप्त करके दुख से रहित हो जाए इसलिए ईश्वर ने बनाया था वो तो भूल भार गए अब खाना पीना उठना सोना बस कच्चे बच्चे पैदा करना इससे आगे कुछ नहीं इसको सीख लो आप इसको सोच लो कालांतर में अभी अभी ये पता नहीं कल भी रहेगा या नहीं रहेगा आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं सदा रहने वाला ये है नहीं जिनमें हम आकृष्ट हैं सोना चांदी और दूसरी वो चीजें भी नहीं रहेंगी और पहले थी भी नहीं है थी भी नहीं पहले और रहेंगी भी नहीं भला जिस ईश्वर ने हमारे लिए सारी सृष्टि बनाई थी और जिसलिए बनाई थी वो लक्ष्य तो हमने छोड़ दिया और केवल भोग विलासों में पड़ गए तो ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध कार्य है ये कोई भी व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध कार्य करने वाला दंड का भागी होगा उसको छुटकारा मिल नहीं सकता आप देख सकते हैं गधा घोड़ा सुअर कुत्ता ये घूम रहा बेचारा एक टुकड़ा नहीं मिलता दिन भर भूखा हाथ पैर मारता मलमूत्र खाता रात्रि को पड़ के सो जाता और हम आनंद से खाते पीते बड़े आराम से रहते अच्छे भवन बनाए हैं कारों में चलते हैं खूब हलवा खीर बना के खाते हैं ये क्या बात बुद्धिमान इसके ऊपर विचार करता ये कुत्ता क्यों बन गया ये बिल्ली और चूहा क्यों बन गया वो देखता है चूहे का जो शरीर है और कुत्ते का जो शरीर है वो किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया कोई कहे कि किसी ने बना दिया और ये विकासवादी कहते ना अपने आप बन गया ये निराधार बात है शरीर की रचना ये बताती है कि शरीर अपने आप नहीं बन सकता चाहे मनुष्य का हो पशु कीट पतंग का हो नहीं बन सकता आपने कभी कीड़े देखे हों ये तो देखे होंगे जिसको पतंग बोलते हैं उड़ते हैं ना तो प्रकाश चमकते हैं ना युग्न होता है ना पर ऐसा भी एक कीड़ा देखा वो जब चलता है ऐसे दीवार पर चलेगा ना तो जैसे कार के पीछे लाइट होती है ऐसे लाइट होती <laughs> क्या समझ वाला देहरादून तपोवन में मैंने कहा ये तो बड़ा वो चलता है ना ऐसे तो पीछे लाइट दिखाई देती है पीछे के भाग में और ना वो जलता है उस, वो तो लगाना नहीं जानता लाइट को कैसे लग गई है अपने आप लग नहीं सकती अपने आप लाइट लगती तो बिना ही बिजली वाले के हमारे अपने आप लाइट लग जाती तब तो मान लेते अपने आप बन गया संसार ये बेसमझ लोगों ने कहा संसार अपने आप बन गया ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं भले व्यक्ति इतना वैज्ञानिक शरीर इसकी रचना व्यक्ति को विवेश कर देती है ईश्वर के मानने में ये ईश्वर तो होगा ही हमको मिला नहीं मिला या अलग बात ईश्वर के बिना ये रचना हो ही नहीं सकती अब देखो ये उंगली बड़ी क्यों है माता जी ये बड़ी क्यों है ये छोटी क्यों है आप बोलो आप मुडासा वाले हैं ना है आप बोलो बड़ी क्यों है आज तक विचार ही नहीं किया होगा हाँ जी विनोद जी नहीं पता देखो एक प्रयोग प्रयोग तो बहुत होते ऐसे मोड़ो खीर रबड़ी कोई खाओ तो एक चम्मच बन गया ये मुड़ करके गड्ढा बना दिया और बराबर आ गई सारी चीज एक जैसी होती तो मोड़ते ये तो ऊपर आ जाती ये नीचे निकल जाती चम्मच बन गया एक प्रयोजन निश्चित है बहुत से प्रयोजन है ये प्रयोजन निश्चित है ऐसा बनने से पानी खीर रबड़ी बिना चम्मच के पहले इससे ही खाते थे तो बन गया बराबर होती तो ऐसे ऐसे हो जाता ये ऊपर निकलाती ये नीचे से बाय दाएं से खीर वाजो निकल जाती इसलिए एक प्रयोजन सामने आया नहीं आया समझ में एक तो आ गया ईश्वर की रचना के प्रयोजन बहुत होते हैं आयुर्वेद में आयुर्वेद के विज्ञान के लोग जिसको यकृत बोलते हैं हमारे शरीर में एक अंग है उसका नाम यकृत है आयुर्वेद में और ऐसा बताया जाता है पता नहीं कितने गुण है उसमें पता नहीं कितनी विशेषताएं हैं वो कैसे बढ़ती किसने बढ़ती ये कोई पता नहीं शरीर का एक अंग कितने गुण है उसमें छोटे से अंग में वो कोई व्यक्ति नहीं जानता है कैसे आ गए उन्नीस में हमारी नाड़ियां देखो हम खाते पीते उनका रस रस रक्त मां सात धातु बनते और बन करके फिर रक्त एक नाड़ियों का वर्ग हमारे उस खून को हृदय में पहुंचा रहा है हृदय धक्का दे करके फेफड़े में पहुंचा रहा है फेफड़े से शुद्ध होकर के दूसरी नाड़ियां हमारी अपने शरीर में पहुंचा रही है लगातार सतत ये कार्य चल रहा अब ना मैं जानता क्यों हो गया ये ना माताजी जानती ना पिता जानता ना डॉक्टर जानता यदि रुक जाए तो राम नाम क्या बोलेंगे अरे सत्य बोले गत है मरने के पीछे ले जाते हैं ना कंधे पर ऐसे बोलते ना पहले राम नाम याद नहीं आया आज राम नाम याद कर रहे देखो ये इसको क्या बोलते हैं गुजरात के कौन ही बोलते हैं है जी एक कथा आती है कथा में एक बात बताई गई एक तो देवों का वर्ग था जो धार्मिक एक असुर जो स्वार्थी और जहां तक मुझे याद है कथा में उसका नाम प्रजापति था प्रजापति जब देवों को बुलाते उनका बहुत सम्मान करते खिलाने में पिलाने में बैठाने और असुर स्वार्थियों को बुलाते तो उतना सम्मान नहीं करते वो स्वार्थी जो लोग थे वो जलते दुख होता देखो देवों को कितना सम्मान करता है प्रजापति और हमारा कितना अपमान अब की बार इसने निमंत्रण दिया है भोजन का इस बार भी ये यही करेगा देख लेना आप अच्छा चले गए वही बुला लिया दोनों वर्गों को और बैठा दिया भोजन के लिए और भोजन परोस दिया गया प्रजापति ने सोचा अब की बार इनका दिमाग ठिकाने लाना है असुरों का ये मुझे पक्षपाती समझते हैं और भोजन परोस दिया और भाई परंपरा के अंदर क्या किया एक लकड़ी डंडा बांध दिया यहाँ यहाँ से आगे हाथ नहीं मुड़े जिससे इतना मुड़ा बस इतने में डंडा बांध दिया और असुरों को भोजन के लिए बैठा दिया पत्थर बिछा दी थाली बिछा दी लड्डू खीर जो कुछ था दे दिया और कहने का खाओ भोजन आधा घंटा अब वो बेचारे डंडा बजा हुआ है हाथ मुंह तक इतने से ले जा नहीं सकते डंडा बंधा हुआ उनके हाथ में और आधा घंटा तक जूझते रहे ना वो खा सका ना ये खा सका भाई रो पीट के कहने के बड़ा दुष्ट व्यक्ति है ये प्रजापति बड़ा पक्षपाती है देखो हमारे डंडा बांध दिया हाथ मुंह में जाएगा ही नहीं डंडा ले जाने नहीं देगा हाथ अब देवों के साथ ये क्या करेगा अब देखो फिर देवों को बिठा दिया देवों को भी हाथ पर डंडा बांध दिया वैसे ही और आमने सामने बैठा दिया और कहने क्या भोजन करो और देव ने कहा भाई अच्छा ये करो देवदत्त ये जयदत्त सामने आमने बैठ गए जैसे वो क्या तू मेरे मुंह में डाल मैं तेरे मुंह में वो उसके डालता रहा वो उसके डालता रहा दोनों पेट भर के उठ गए राक्षसों को समझ में आया भाई ये तो बड़ी बुद्धिमत्ता थी हमने तो नहीं की इसलिए इनका अच्छा मान देव का मान इसलिए करता है इनमें विशेषताएं क्या विशेषताएं ये दूसरे का भला करते हैं और हम अपना ही भला चाहते अब पता चला यदि ये जोड़ना होता तो हम कैसे खा सकते इतना ही मुड़ता हाथ है, है? या नहीं मुड़ता तो उठा भी नहीं सकते नहीं मुड़ता है उंगलियां तो उठा भी नहीं सकते और ये जोड़ना होता तो मुंह तक नहीं पड़ोसी को बुलाते भाई मेरे मुंह में तू डाल उसके मुंह में पड़ोसी नाराज हो जाता तो वो भूखा मरता वो भूखा मरता कैसी विचित्र रचना है ये व्यक्ति को आस्तिक बना देती है ईश्वर है आपको दिखाई देता है नहीं देता है अलग बात पर ये बिना बुद्धिमत्ता के लिए बिना सर्वज्ञ के ये कार्य रचना हो ही नहीं सकती अब मेरा पर्यश्च सदगण उपस्थित सज्जनों मातृशक्ति पूर्व वयम संस्कृत भाषया वार्तालापम भाषण संभाषण क्या रणवीर महाभाग अयम जीवात्मा शरीरे एक देशी अस्ति अथवा सर्वदेशी एक देशी अस्ति भगवान यदि अयम जीवात्मा शरीरे एक देशी अस्ति तर्हि यथा प्रभूता गाता जायन्ते तदा युगपत एव कथम तद अनुभवती प्रभूता गाता की भगवान आघाता प्रभूता इति किम् प्रभूता इति कथो न विज्ञातं भवतादुना पर्यन्तम् आधिक्येन इति आघाता आघाता इति पीडाप्रद आघाता कथम युगपद अनुभवती अपनी कथम युगपद अनुभवती अस्तु क्रमं क्रम तु भवति यथा आलात्यग्रवत् उदाहरणं तत्तदर्थं दत्तमस्ति हम्म। भवान् वदतु मनसः लक्षणं युगपत् ज्ञानानि अनुत्पत्तिः इति ज्ञानानि कथं स मनसः लक्षणं किं लक्षणं एकसमये एकमेव ज्ञानं कारयितुं शक्नोति अनेन मनः जीवात्मनः साधनः ज्ञानस्य करणाय ज्ञानस्य प्रापणाय अनेन यदि मनः मध्ये अस्ति तर्हि युगपत् ज्ञानानि अनुत्पत्तिः इति निश्चितम् साधक महाभाग भवतः कः विचारणः मनः एकसमये एकलिये सः कार्यं एक साधम हाँ हाँ संबंध रक्षति साधम न तर्हि कथम् अनुभवति योगपद यस्य इन्द्रियसार्धे इंद्रिय इन्द्रियसार्धम् अस्य संबंध भवति हम्म। इंद्रिय इन्द्रियस्य विषय ग्रहणं करोति अन्य इन्द्रियस्य विषय ग्रहणं न करोति एतद् मनुष्यः सन्दीपमाभाग भवान् वदतु यत् ये ये जीवात्मा अस्मिन् शरीरे विविध दुखम विविध दुखानि अनुभवति पुनः तत्रैव ईश्वरोऽपि वर्तते यदि ईश्वरो वर्तते चेत् तर्हि जीवेन सह ईश्वरः दुःखम् अनुभव न करोति किम् किं कारणम् भवान् हम्म। यथा उदाहरणम् यथा कथम् यथा जीवात्मात्मा अल्पज्ञत्वात् अल्पसामर्थ्यत्वात् च दुःखम् अनुभवति तथा तथैव वैधर्म्यात् ईश्वरः सर्वज्ञत्वात् सर्वसामर्थ्यत्वात् च इदं तु सम्यक् उक्तं वा साधु उक्तं न वा बहुत दृष्टिया साधु है साधु वा ये अर्थात मुक्तात्मना सन्ति हम्म, हम्म। तेषु सम्यक् न भविष्यति भगवान् ते ते ये मुक्तात्मनः सन्ति ते अल्पशक्तिमन्तः अल्पज्ञानवन्तः भवन्तः अपि ते दुःखं न अनुभवन्ति तेषां कः सम्बन्धः अनेन प्रसङ्गेन हेतु सर्वज्ञत्वात् अन्यत् सर्वशक्तिमत्वात् हाँ। ईश्वर सुखम न अनुभवति साधक महाभाग भवान् वदतु जीवात्मा एकदेशीय अस्ति हम्म। ज्ञान वर्धनार्थ अस्य पार्श्वे अनेका साधना सन्ति अनेका अनेकानि साधनानि सन्ति अस्तु ईश्वरः तु सर्वव्यापको अस्ति तस्य किमपि ज्ञानं ज्ञानं करणार्थ साधनानि अपेक्षा न भवन्ति साधनानि अपेक्षितानि साधनानि अपेक्षितानि न भवन्ति अन्यच्च यदा जीवात्मा दुःखमनुभवति तत्र ईश्वरोऽपि विद्यमान वर्तते अस्ति न तर्हि स कुतो न दुःखं न अनुभवति सर्वशक्तिमत्वात् भगवान कथम मुनिर भवती बहुत सु ध्रुवदेव भाव आ गए भगवान संस्कृत भाषया वक्तुम रति न वा जीवात्मा तो अविद्या कारणत्वाद दुखम अनुभवती परंतु परमात्मा सर्वविद्या युक्त अस्ति तस्मा कारणत्वाद सुखम न अनुभवती हम्म। तस्मिन अविद्या ईश्वर ईश्वर सर्वशक्ति मत्वात न अनुभवती अयमेव हेतु व अन्य अपि अन्य अन्य के तो सुख स्वरूप जाते सति स दुःखं न भवति एकस्मिन् एव पदार्थे एकस्मिन् काले विरुद्ध द्वौ विरुद्धौ धर्मौ न भवितुं शक्नुते कथयति ईश्वरः ईश्वर ईश्वरे द्वौ धर्मौ न भवतः हा विरुद्ध धर्म कि कस्मै कष्टं ददाति कस्मै सुखं ददाति तत्तु तो भिन्नाय भिन्नाय भवति तत् कार्यं तु तो। नहीं द्वौ विरुद्धौ अधुना ईश्वरे कस्मै तो अन्यायस्य फलं दुःखं ददाति कस्मैश्चित् ईश्वरः आनन्दं प्रददाति उपासकाय तर्हि विरुद्धौ धर्मौ इदौ इमौ दुःखदानं विरुद्ध सुखगुणं न भवेत् क्रिया तु अस्ति न क्रिया विरुद्धा क्रिया विरुद्धौ विरुद्धौ धर्मौ इमौ तत्तु कर्म एकमेव अस्ति भवान् तत्र एकं कथमस्ति एकस्य एकस्य क्रियाया दुःखफलम् एकस्य क्रिया सुखफलम् एक यदि भवेत् तर्हि भवतः मीमांसा प्रदीपे इदम पठितम भवता यद यज्ञ इति एक कर्म तर्री एक कर्म जाते सति अश्य यज्ञ से इदम फलम अश्य यज्ञ दो द्वे फले कथम भवत है क्रिया रूपत्वाद द्वयम द्वे क्रिया द्वे क्रिय वर्तते वर्तते एका एका क्रिया नास्ति अनया दृष्ट्या तु सम्यक् किन्तु जातिदृष्ट्या कर्मणां कर्म अस्तु अस्ति न वा तो ईश्वरेच्छास्ति जीव जीवात्मने कल्याणं ददामि इयमपि अस्ति अस्मै दुःखं ददामि अस्मि दुःखदानाय इच्छा अस्मि तु तो सुखदानाय इच्छा द्वे द्वौ विरुद्धौ धर्मौ साधक वहां आ गए न वा स्वामी हमारा जीवात्मा एवं ईश्वर उभौ निराकार उभौ निराकार भवतः प्रथमा वृत्ति अधीता ने वा एकस्मिन् एक बदन भौसो क्रियायोः प्रभावः शरीर उपरि भवति हम्म। ज्ञानं करोति केवलं जीवात्मा अनुभव करोति ज्ञानं करोति एतद् विपरीतं दुःखमस्ति एतत् सुखमस्ति ईश्वरे जानाति परंतु तत्व प्रभाव केवल शरीर उपरि भवति ईश्वरस्तु शरीर नास्ति न शरीरेश वार्ता नास्ति अयं महाभागः इदमुक्तवान् एकस्मिन् पदार्थे द्वौ धर्मौ विरुद्धौ न भवत् हेमवादी शम् एतद् विरुद्धौ धर्मौ भवत् मूलप्रसङ्गे वदति प्रसङ्गः शरीरं नास्ति जीवस्य शरीरम् तस्मात् जीवः शरीरस्य भवता पूर्व प्रसंगे अस्माकं ये प्रश्न तस्य उत्तरं दीयते अयं भिन्ने प्रसङ्गे उत्थापित अनेन महाभागेन भिन्नः प्रसङ्गः उत्थापितः अतः इयं चर्चा जाता अस्तु तर्हि अधुना विरम्यताम् अस्तु तर्हि चरम लक्ष्य परिपूर्णार्थम और मैं तो सोच रहा था हिंदी में बोलूंगा फिर संस्कृत में चल पड़े <laughs> अपने चरम लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति को क्या जानना समझना करना चाहिए को ये जानना चाहिए कि मेरे जीवन के लक्ष्य में मेरे पास में पूर्व के अथवा अब के उत्पादित कारण क्या क्या हैं ये जानना चाहिए क्या समझ में आया दोहराइए प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरम लक्ष्य को पूरा करने में पूर्व जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के स्वयं उत्पादित क्या क्या बाधक हैं संदीप महाभाग बोलिए ये जान अपने लक्ष्य के पूर्ण करने में जो बाधक हैं पूर्व के और इस जन्म के कौन कौन से बाधक हैं मुझ द्वारा उत्पादित एक बात दूसरी बात ये जाननी चाहिए कि समाज परिवार व्यक्ति अन्यों के द्वारा उत्पादित क्या क्या कारण है दोनों को मिलाइए अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पूरा करने में मेरे पास में आज चाहे वह पूर्व जन्म के हों इस जन्म के हों वो कौन कौन से ऐसे बाधक कारण हैं ये जानना चाहिए साधक जी बोलिए क्या समझ में आया प्रत्येक व्यक्ति को यही यही तो राव जो मैंने बताया प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति में अपने द्वारा उत्पादित अथवा पूर्व जन्म के द्वारा में उत्पादित क्या क्या बाधक कारण है उनको जानना उनको जानना चाहिए आ गया समझ में आप नहीं आया आ गया एक बात दूसरी बात अपने द्वारा पूर्व जन्म के इस जन्म के कौन कौन से ऐसे साधन हैं उनको जानना चाहिए अब क्या समझ में आया अपने द्वारा उत्पादित पूर्व जन्म के और इस जन्म के कौन कौन से साधन हैं जिनसे व्यक्ति का लक्ष्य पूरा होगा ये जानना चाहिए ध्रुवदेव जी इस दूसरे बात को क्या समझे आप अपने द्वारा उत्पादित पूर्व जन्म के व इस जन्म के कौन कौन से साधन है जन्म लक्ष्य की प्राप्ति में उनको जानना चाहिए तो आपको सबको ये समझ में आ गया क्या कहा जा रहा है या नहीं आया बोलो आगे, यदि संक्षेप से हम कहें तो वो जो बाधक है वो क्या क्या होते हैं और साधन है वो क्या क्या होते हैं कौन बताएगा संक्षेप से बताओ कोई हाँ जी बोलो हाँ, बाधक तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं और वर्तमान हाँ हाँ बोलो बोलो और कौन बोलेगा हाँ रणवीर जी कारण स्वामी जी वो है राग द्वेश क्रोध लोभ मोह आदि हम्म, हम्म। और साधक कारण है सेवा परोपकार और वैराग्य इत्यादि और यदि थोड़े रूप में कहें सबको इकट्ठा करके अविद्या अज्ञान एक अधर्म अन्याय दो विपरीत मिथ्या उपासना तीन कुसंस्कार चार कितने हो गए हम्म? चार, हो गए और यदि संक्षेप से हम साधनों को साधकों को गिनाए तो क्या होगा धर्म विद्या तत्व ज्ञान या विद्या हम्म। और शुद्ध उपासना हम्म। और फिर सुसंस्कार हम्म। और क्या छूटा धर्म न्याय धर्म तो धर्म तो नहीं छूट गया बोल दिया पहले विद्या एक धर्म अथवा न्याय दो और सच्ची ईश्वर की उपासना चार और सुसंस्कार पांच चार तो ये आपने देखे पुराने बाधकों को जान के उनको समाप्त करना साधक जी क्या समझ में आया पुराने बाधक जो ये चार बताए इनको जानना और फिर इनको समाप्त करना और नए बाधकों को उत्पन्न नहीं करना दौड़ आइए क्या समझ में आया पुराने जो बाधक है पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के उत्पादित कुसंस्कार अधर्म अन्याय विरुद्ध उपासना एवं अविद्या इनको दूर करते रहना और इन चारों में से किसी नए को उत्पन्न नहीं होने नहीं होने देना अब इसके विपरीत जो साधक है साधन है पूर्व के उनको सुरक्षित रखना और नए साधकों साधनों को उत्पादित करते रहना आपको ये समझ में आ गया होगा यदि इस रूप में इनको न जाना जाए लक्ष्य के पूरा करने में जो बाधक हैं पूर्व के और अब जो उत्पन्न किए जाते हैं वो उनको न जाना जाए उनको दूर न किया जाए और नए बाधक उत्पन्न न किए जाए तो व्यक्ति अपनी कृतकृत्यता को पूरा नहीं कर सकता इसी प्रकार यदि पूर्व के साधन जो विद्यमान है वही उन साधनों को सुरक्षित न रखा जाए और नए साधक साधन उत्पन्न नहीं किए जाए तो भी व्यक्ति अपनी जीवन की अंतिम कृतकृत्यता को पूरा नहीं कर सकता इनके प्रयोग ये जो आपको सुनाया जा रहा ये व्यक्ति को दिन भर आत्मा क्षण भर भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता बाधक जो विद्यमान है हमारे अज्ञान कुसंस्कार अधर्म उल्टी उपासना वो यदि न जाने जाएंगे और न रोके जाएंगे तो तत्काल आप इनसे युक्त हो जाएंगे अविद्या से अशुभ संस्कारों से अधर्म से मिथ्या उपासना से आप खाली नहीं रह सकेंगे उससे युक्त हो ही जाएंगे इसको कोई रोक नहीं सकता यदि आप उनको नहीं जानते और रोकने का उपाय सतत नहीं करते तो नहीं बच सकते यदि आप उन साधनों को विद्या धर्म न्याय ईश्वर की उपासना शुभ संस्कारों को आप सुरक्षित नहीं रखते और उनका प्रयोग नहीं करते उनमें वृद्धि नहीं करते करेंगे तो उनसे युक्त होंगे नहीं करेंगे तो उनसे खाली हो जाएंगे ये मुख्य लक्ष्य में उत्पादक उत्पादक नहीं मुख्य लक्ष्य में बाधक जो है इनका एक वर्ग है और उस वर्ग में अविद्या से आरंभ होती है बातें कहीं कहीं कुसंस्कारों से अविद्या भी आरंभ होती है और आदि जहां से आरंभ माना जाए वहां अविद्या ही आरंभ होगा क्या समझे साधक जी ये जो बाधक जो आरंभ होते हैं वो कहां से चलते हैं अविद्या से आरंभ होते हैं उससे अविद्या के कुसंस्कार बन जाते हैं और जो तो कुसंस्कार फिर क्या करते हैं वो आगे चल के अविद्या को उत्पन्न कर देते हैं इसी प्रकार से अविद्या अधर्म को उत्पन्न करती है अविद्या तो अविद्या अधर्म को उत्पन्न करती है और अविद्या ही कुपासना ईश्वर से भिन्न पदार्थों की उपासना को उत्पन्न करती है संस्कारों को उत्पन्न करती है अविद्या ही अधर्म को उत्पन्न करती है अविद्या ही विपरीत मिथ्या उपासना को उत्पन्न करती है और आगे चल करके उसका परिणाम दुख उत्पन्न हो जाता है यदि आप इन बाधकों को प्रकार से जानते हुए इनको नहीं रोकेंगे प्रक्रिया एक जैसे इनको तनु बनाना इनको तनु बना देना अब तनु कैसे बनाते हैं